अष्टादश अध्याय पचपन नंबर के श्लोक तक कुछ विचार हो गया है जिसमें भक्त्या माम अभिजानाते यवान अष्टात्म तत्वतः तथो माम तत्व के धर्म कहा था तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा से प्रसंग आया था जो ब्रह्म भाव में पहुंच गया ब्रह्मत्व में पहुंच गया उसके क्या लक्षण होता कहते प्रसन्न न सोचते न कांक्षते किसी विषय को लेकर के शोक भी नहीं करता किसी को लेकर इच्छा भी नहीं करता इष्ट के वियोग के कारण शोक भी नहीं करता अनिष्ट प्राप्ति से प्राप्ति की इच्छा भी नहीं करता इष्ट प्राप्ति की इच्छा भी नहीं अनिष्ट प्राप्ति से शोक भी नहीं करता उसका ऐसा होता है क्यों इष्टानिष्ट की प्राप्ति प्रारब्ध का अधीन है शरीर का धर्म है शरीर को मिलना है मेरे में नहीं है इष्टानिष्ट की प्राप्ति अंतकरण की प्राप्ति होती है इष्टानिष्ट जो भी होना है ऐसा समझता है वो सम सर्वेश भूतेशु मधुत्म लभते पर सर्वत्र समष्टि दृष्टि से सबको समान भाव से देखता है उस काल में भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है ब्रह्म भाव में पहुंचा हुआ व्यक्ति के भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है समाज सर्वेश भूतेशु भवंती भूतानी तेसु भूतेशु जो होते हैं जड़ चेतन सारे के सारे वर्ग भूत कहलाते हैं होने वाले पदार्थ जितने भी भूत यही होते हैं भूत समाज सर्वेश भूतेशु मत भक्ति में लगते हैं पराम मेरे भक्ति को प्राप्त करता है भगवत रूप से सर्वत्र देखता है ब्रह्म बना हुआ व्यक्ति आत्मरूप से देखता है भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है कहा भक्त्या उसके बाद कहा भक्त्या मां अभिजान आते यावान्यास्म तत्वता उस भक्ति के द्वारा समभाव में आ गया वो भक्ति हो जाती है वही भक्ति है भजन है उसके द्वारा मुझको जानता है मेरा दो स्वरूप है दोनों को जानता है यावान यश्चास्म तत्व यावान उपाधि के जितने मेरे भेद हैं उपाधि के कारण अनेक रूप में दिख रहा हूं मैं उस रूप को भी समझता है सविशेष रूप को और यश्चाश्व तत्व था वास्तव में जो मेरा स्वरूप है निर्विशेष स्वरूप उसको भी जानता है कहा था तत्वमान तत्व तो वास्तविक स्वरूप को जान करके निर्विशेष स्वरूप को जानकर विशते तदनंतर मेरे में एक हो जाता हो ऐक्य प्राप्त करता है ये कहा गया था इसका शुरुआती कर्म का साधन बताया था वर्णाश्रमित कर्म वैसे शुरू हुआ था उसके द्वारा एक सिद्धि प्राप्ति होती है ज्ञान निष्ठा की ज्ञान निष्ठा लक्षण योग्यता आ जाती है उसमें तब ज्ञान होने की योग्यता अंतकरण आ जाती है कहा था अपने अपने कर्मों के द्वारा परमात्मा को पूजा करने से उसके बाद में ज्ञान लक्षणा सिद्धि ज्ञान हो जाता है योग्यता आने के बाद ज्ञान और ज्ञान के बाद में मेरे में प्रवेश करता है यहां तक के अर्थ हो गए अब प्रश्न होता है ज्ञान से यदि विशते तदनंतर होना है परमात्मा के से अभेद होना कब ज्ञान से होता है ज्ञान से होना है तो तरी ज्ञान निष्ठा आए वो मोक्ष संभव ज्ञान होते हैं तब तो, मोक्ष की संभाव संभावना है ज्ञान निष्ठा से आए ज्ञान से ही हो जाएगा मोक्ष न कर्म कर्म कर्मानुष्ठान सिद्धि फिर कर्म के अनुष्ठान सिद्धि नहीं होगी ज्ञान से मोक्ष हो जाना है ब्रह्माव की प्राप्ति ज्ञान से तो कर्म का अनुष्ठान क्यों करना फिर पहले ज्ञान में बैठ जाए पहले शुरू में ज्ञान अर्जन ही करे कर्म क्यों वर्णाश्रम भेद कर्म की चर्चा क्यों ये प्रश्न है तरी ज्ञान निष्ठया एवं मोक्ष संभवात मोक्ष की संभावना किससे है ज्ञान निष्ठा के द्वारा ही है ज्ञान ज्ञान में बैठना है संभवात न कर्मानुसार फिर कर्म का अनुष्ठान वर्णाश्रम विहित जो कर्म का अनुष्ठान की सिद्धि तो होगी ना फिर आवश्यकता ही नहीं उसकी ये शंका आ गई तो उत्तर देते हैं स्वकर्मा अपने अपने जो वर्णाश्रम विहित कर्म है जिस वर्ण का होगा जिस आश्रम का होगा जो व्यक्ति स्वकर्मा भगवतो अभ्यर्थन भक्ति योग अपने अपने कर्मों के द्वारा भगवान के जो क्या पूजा करना है अभ्यर्थन में पूजा रूपी जो भक्ति योग है इसको भक्ति योग कहा है स्वकर्म अपने कर्म के द्वारा भगवतो अभ्यर्थन भक्ति योग से भगवान के जो पूजा करना रूप भक्ति योग है अपने कर्मों के द्वारा ही पूजा भगवान की पूजा रूप भक्ति योग है फलम सिद्धि प्राप्ति उसका फल क्या है सिद्धि की प्राप्ति होगी यानी अर्थ क्या है सिद्धि माने ज्ञान निष्ठा लक्षण कहा ज्ञान निष्ठा की योग्यता आ जाती है जब तक ज्ञान निष्ठा की योग्यता नहीं आएगी ज्ञान ज्ञान होगा नहीं ज्ञान के लिए योग्यता चाहिए उस योग्यता कहां से आने अपने वर्णाश्रम विहित कर्म के द्वारा ये कहना है स्वकर्मा भगवतो अभ्यर्थन भक्ति योग फलम वाले जाके हमने करना अपने अपने कर्मों के द्वारा वर्ण और आश्रम दो धर्म लगे हुए हैं अपने अपने कर्म के द्वारा भगवान के जो अभ्यर्थन है पूजा है पूजा रूपी जो भक्ति योग है उसके फल क्या होता है सिद्धि प्राप्ति सिद्धि की प्राप्ति क्या है वो सिद्धि ज्ञान लक्षणा योग्यता ज्ञान होने की योग्यता आ जाती है अंतकरण में ये सिद्धि यही है सिद्धि यहां अब तो कर्मों के द्वारा ज्ञान लक्षणा योग्यता आ जाती है या निमित्ता ज्ञान निष्ठा जिस योग्यता के निमित्त से ज्ञान निष्ठा हो जाती क्या होती है योग्यता आ गई अंतकरण में तो ज्ञान होगा मोक्ष फलावसाना ऐसा कहां जाकर समाप्त होती है मोक्ष फल में जाकर समाप्त होती है मोक्ष देती है स भगवान भक्ति योग अर्जुना स्तुता वो भगवान की जो भक्ति योग है ना माने वर्णाश्रम रूपी कर्म रूपी भक्ति योग है उसी को यहां पर प्रशंसा की जाती है कर्म रूपी कर्म किए बिना ज्ञान निष्ठा की योग्यता आएगी नहीं ज्ञान निष्ठा की योग्यता आए बिना ज्ञान होगा नहीं ज्ञान होगा ना मोक्ष प्राप्त होगा तो मोक्ष प्राप्ति के लिए शुरुआती साधन वर्णाश्र विहित कर्म निष्काम भाव से सुनार्पण बुद्धि से कर्म काम में कर्म नहीं निश्चित कर्म नहीं या कर्म शब्द का अर्थ उपासना भी मानसिक कर्म है वो भी रहना है मान शारीरिक जो कर्म होता है उसको कर्म कहा जाता है और मन में भी कर्म है उसको कहा उपासना बोलते हैं वो भी मानसिक कर्म है तो निष्काम भाव से उपासना निष्काम भाव से कर्म अच्छा ईश्वरार्पण बुद्धि इसी को बोला जाता है इस भाव से उपासना कर्म करने से अंतकरण की शुद्धि होगी अंतकर शुद्ध होने वाले ज्ञान निष्ठा की योग्यता आ गई अंतकर शुद्ध होने पर विश्व से वैराग्य होगा विश्व से वैराग्य होने पर वेदांत श्रवण में लगेगा वहां से आदि महाभाग्य श्रवण करेगा उसके द्वारा ज्ञान होगा उसके बाद मोक्ष परंपरा है ये कहते हैं स्वकर्मा भगवतो अभ्यर्थन भक्ति भक्त अपने में जो वर्णाश्रम कर्म है उस कर्म के द्वारा भगवान के जो पूजा रूप भक्ति योग है ये भक्ति योग ऐसा सिद्धि प्राप्ति उसके सिद्धि प्राप्ति क्या फल होगा सिद्धि की प्राप्ति सिद्धि क्या है ज्ञान निष्ठा योग्यता यह निविता जिस योग्यता के कारण ज्ञान निष्ठा की योग्यता आ जाने पर अंतकर्म में योग्यता आ जाती है ज्ञान होने की योग्यता या निमित्ता जिसके निमित्त जिस निमित्त से ज्ञान निष्ठा मोक्ष फलावश आना कहा ज्ञान निष्ठा मोक्ष फल पर जाके समाप्त होती है ज्ञान निष्ठा कहा जाके समाप्त हो मोक्ष रूपी फल में जाके समाप्त होना है स भगवत भक्ति योग वही भगवान के भक्ति योग है कर्म निष्काम कर्म योग है वही अद्वना है अब आगे इसकी स्तुति की जाती है प्रशंसा की जाती है शास्त्रार्थ उपसंहार पर करे ये देखो अष्टादश अध्याय पूरे गीता के विषयों को उपसंहार के लिए है सारे गीता में जो कुछ कहा था द्वितीय अध्याय से लेकर के सप्तदश अध्याय तक जो कहा था उसके उपसंगार यहां सारे विषयों को प्रदर्शन संक्षेप में प्रदर्शन किया गया कहा अष्टादश अध्याय शास्त्रार्थ व संहार प्रकरण अष्टादश अध्याय पूरे गीता रूपी शास्त्र के जो विषय है उसका उपसंहार प्रकरण है ये शास्त्रार्थ निश्चय अध्याय कहते हैं शास्त्र गीता शास्त्र का क्या है निश्चय इसको दृढ़ शास्त्र मान गीता शास्त्र का जो विषय है उसको निश्चय में दृढ़ता लाने के लिए फिर कर्म की प्रशंसा कर निष्काम कर्म निष्काम प्रवासना उसकी प्रशंसा है ये आगे का श्लोक इसके लिए कहा श्लोक है सर्वकर्माण्य सदा कुर्बाणो मद्यपाश्रय मत्प्रसादादपाप्नोति शाश्वत पदमद्यय सर्वकर्माण्य सदा कुर्बाणो मद्यपाश्रय तत्प्रसादादमाप्नोति पदम पदमव्ययम् सर्वकर्माणि अपि माने सबके सब कर्म जितने भी कर्म होंगे नित्य नमित्य काम में प्रतिद्ध जो चार प्रकार के कर्मों की चर्चा है शास्त्र में तो सारे के सारे कर्म सदा कुर्बाणो निरंतर करता हो माने पाप कर्म भी करता हो सभी कर्म बोला हो सर्वकर्म कर्म कोई संकीर्णता नहीं सारे कर्म कोई भी कर्म करता प्रशंसा के लिए उस कर्म करने वाले की प्रशंसा के लिए है सर्वकर्माणी अपेक्षा सारे के सारे कर्म जितने ही है नित्य है नैमित्तिक है काम है प्रतिषिद्ध है जितने भी कर्म है सबको करता हुआ भी मत व्यपाश्रय मेरे में आश्रित होता हुआ कर्म करता हो मान मेरे में अर्पित करके कर्म करता हो कोई भी कर्म करता हो मत प्रसादा प्रसादात होती मेरी प्रसन्नता से मेरे लिए कर्म करे तो मेरी प्रसन्नता होगी मत प्रसादात मेरी प्रसन्नता से शाश्वतम अव्ययम पदम होती है शाश्वत भवम शाश्वतम निरंतर रहने वाला स्थान है जिसको शाश्वत कहा जाता है ऐसे पद पद्यते गम्यतित पदम जहां जाना होता है कोई पद अव्ययम शाश्वतम पदम नोती कहा हुआ है सारे कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से माने मध्य पास रहे सन सर्वकर्माणी सदा कुर्बाणों अभी कहा हुआ है माने मेरे में आश्रित होता हुआ भगवान कहते हैं माने मेरे में अर्पित करता हुआ अर्थ यही होता है फलाकांक्षा के रहित होकर के मेरे में आश्रित होता हुआ सारे के सारे कर्म करता हुआ भी कोई भी कर्म पाप कर्म भी तो करता हो तब भी मत प्रसादात मेरी कृपा से मेरी प्रसन्नता से शाश्वतम अव्ययम पदम आपनोति कहा जो शाश्वत भवम शाश्वतम निरंतर रहने वाला स्थान है कभी उसका विकृत नहीं होता नाश नहीं होता जैसा स्थान है तो ऐसे जो अव्य अविनाशी पद है उसको प्राप्त करता है माने मोक्ष प्राप्त करता है क्या अर्थ है भाष्य में कहते हैं सर्वकर्माण अपी सर्वकर्माणी कहा हुआ सारे कर्म करने से प्रतिष्ठित कर्म भी आएगा आया है जो भी कर्म हो माने प्रशंसा के लिए दिव्य प्रतिषिद्ध कर्म नहीं करता वो किंतु उसकी प्रशंसा के लिए सर्वकर्माणी कहा प्रतिषिद्धानी अभी जो प्रतिषिद्ध कर्म भी यदि करता हो नित्य भी करता हो तो अच्छी बात है यदि निषिद्ध कर्म भी करता हो तब भी सर्वकर्माणी शब्द दिया है सर्वकर्माणी में प्रतिषिद्धानी अभी यदि प्रतिषिद्ध शास्त्र ने जिसका निषेध किया ऐसे कर्म भी करता हो तब भी सदा कुर्बान और वो भी एक दिन नहीं दो दिन नहीं हमेशा कर जाता निषिद्ध कर्म भी हमेशा कर रहा हूं उस व्यक्ति की प्रशंसा है यदि मेरे में आश्रित होता हुआ करता हो तो ये कहना है यद्यपि साधक नहीं करेगा प्रतिषिद्ध कर्म कभी नहीं करेगा उसकी प्रशंसा के लिए सर्वकर्माण अपनी प्रसिद्धानी अपनी सदा कुर्बाण और निरंतर करता हुआ भी अनुतिष्ठन कुर्बान में अनुष्ठान करता हुआ मद व्यपाश्रय अहम विशेषण आश्रयो यश्य मैं ही विशेष रूप से आश्रय मैं हूं उसको मध्य प्रपाश्रय कहा जाता है हम परमात्मा निर्विशेष आत्मा आश्रय निर्विशेष आत्मा को दृष्टि करके जो भी कर्म कर रहा हो ईश्वर भावना से करता हो मानी मद व्यपाश्रय में बहुगुरी समाज के कहते हैं अहम वासुदेव हो व्यपाश्रय ऐसे ही है मैं जो वासुदेव बसंती सर्वभूतानी यशमिन वासुदेव सबके सब प्राणी मात्र जिसमें रहते हों उसको वासुदेव कहा जाता है वासुदेव है अहम वासुदेव मान ईश्वर व्यपाश्रयो यश्य जिसका आश्रय मैं ही हूं जिसका यही है स उस व्यक्ति को कहा जाता मत पर आश्रय मेरे में आश्रित होता हुआ कहा माने मत व्यपाश्रय का अर्थ मई अर्पित सर्वात्म भाव ही अर्थ है सारे के सारे कर्म मेरे में अर्पित कर दिया उसने वही कर्म अर्पित करता ऐसा जो व्यक्ति होगा वो सो भी वो व्यक्ति भी मान प्रतिष्ठित कर्म कर रहा हो तब भी वो व्यक्ति वो व्यक्ति भी मत प्रसादात मेरी कृपा से मेरी प्रसन्नता से मम ईश्वर से प्रसाद मैं जो ईश्वर हूं उस उस प्रसाद से प्रसन्नता से आप नोती प्राप्त होती होता है प्राप्त करता है शाश्वतम नित्यम शाश्वत नित्य नित्य नित्य स्थान है वैष्णवम विस्तृत व्याप्त धातु से बनता है विष्णु शब्द विष्णु संबंधी को वैष्णव कहा जाता उत्पद को वैष्णव कहा जाता है विषय किच्च ऐसा गुणादि सूत्र है विष धातु से नू प्रत्यय होता है दाभाभ्याम नू ऐसा सूत्र पूर्व में आता है दा धातु से नू प्रत्यय करके दानु बनाया जाता है भा धातु से नू करके भानु बनाया जाता है वहां से नू ला करके विशेष किच्च करें विष्णु व्याप्त धातु से भी नू प्रत्यय होगा किंतु नू को कित माना जाएगा यदि कितना हो तो गुण हो जाएगा पूर्णता लोक सूत्र से वैष्णव बन जाएगा ऐसा अनिष्ट होगा इसलिए कित कर दिया प्रत्येक को इसे किच ऐसा सूत्र आता है उड़ानी में तो विष्णु शब्द बनता है व्यवेष्टि चराचरम जगत विष्णु सारे संसार को व्याप्त कर जाता है जो तत्व तो उसको विष्णु कहा जाता है वही विष्णु होता है मुख्य विष्णु वही है मानी दुर्विशेष आत्मा सर्व व्यापक आत्मा को विष्णु कहा जाता है विशेष रूप से वैकुंठादि लोग में प्रयोग किया गया गौण है मुख्य विष्णु नहीं मुख्य विष्णु व्यापक आत्मा परमात्मा ही होता है निर्विशेष आत्मा है देवेश चराचरम जगत सारे संसार को व्याप्त कर जाता है जो वस्तु उसी को विष्णु कहा जाता है तो <clears throat> तत्संबंधित जो स्थान हो विष्णु संबंधी स्थान को वैष्णव कहा जाता है यही है वैष्णव पदम का विष्णु संबंधी स्थान अव्यय पद को प्राप्त करता है मेरे में आश्रित होकर के सारे कर्म करता हो कैसे भी कर्म करता हो वो व्यक्ति मान व्यापक तत्व को प्राप्त होता है ये अर्थ है इसका टीका से देखें तामेव सिद्धि प्राप्ति विशेष वो सिद्धि प्राप्ति के ही विशेषण लगाते हैं ज्ञान इत्यादि कहाता है ज्ञान निष्ठा योग्यता माने भगवत भगवान की पूजा के अपने अपने कर्म के द्वारा भगवान की पूजा करने से क्या होता है ज्ञान प्राप्ति की योग्यता आ जाती है यही सिद्धि है कहा था ठीक है मैं कहते हैं आगे ज्ञान निष्ठा योग्यता ये स्वकर्मानुष्ठानम भगवत अर्चन रूपम कर्तव्यम ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्ति के लिए किसके लिए अभी ज्ञान निष्ठा नहीं हुई है ज्ञान में स्थिति नहीं है पूर्वावस्था योग्यता प्राप्ति अंतर्गत में योग्यता आ जाए ज्ञान निष्ठा योग्यता योग्यता ये ज्ञान निष्ठा की योग्यता के लिए सर्व स्वकर्मानुष्ठान भगवत अर्चन अपना कर्म का अनुष्ठान माने भगवान की पूजा अपने कर्म का अनुष्ठान से भगवान की पूजा है कर्तव्य करना चाहिए नहीं तो ज्ञान निष्ठा योग्यता आएगी नहीं ज्ञान निष्ठा की योग्यता ज्ञान होगा नहीं ज्ञान नहीं होगा तो मोक्ष नहीं मिलेगा यदि मोक्ष चाहता हो तो शुरू में अपने अपने कर्म करना चाहिए भगवत समर्पण समर्पित करके ही कहना है ज्ञान निष्ठा योग्यता अभी किमर्था प्रश्न होगा कर्म करके निष्काम कर्म के द्वारा ज्ञान निष्ठा की योग्यता लाना कहा क्यों किस लिए लाना ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्रश्न उठता है ज्ञान निष्ठा योग्यता अभी अर्थ किस लिए करना हो किस क्या प्रयोजन है उसका शंका करके उत्तर देते हैं ज्ञान निष्ठा सिद्ध्यर्था ज्ञान निष्ठा की सिद्धता हो जैसे ज्ञान हो योग्यता है तो ज्ञान होगा योग्यता कैसे आना है स्वकर्म के अनुष्ठान के द्वारा स्वकर्म का अनुष्ठान भगवान के अर्पित रूप से करने से यन्यमिता कहा था जिस ज्ञान निष्ठा की योग्यता आ जाने पर यन्यमिता ज्ञान लक्षण ज्ञान निष्ठा मोक्ष फलावसाना कहा था जिसकी जिस निमित्त से ज्ञान निष्ठा की योग्यता है निमित्त बनने पर ज्ञान निष्ठा आ जाती है जो उसका फल होता है मोक्ष में जाकर पूरा करने वाला फल होता है मोक्ष फलावसान कहा हुआ है ठीक है ज्ञान निष्ठा भी पुत्र उपयोगता चलो ज्ञान निष्ठा किसमें उपयोगी होगा फिर ज्ञान निष्ठा की योग्यता तो ज्ञान के लिए उपयोगी हो गया ज्ञान निष्ठा की योग्यता के लिए क्या करना वर्णाश्रम हित कर्म करना वर्णाश्रम वर्णाश्रम कृत भगवान के अर्पण के द्वारा करता हो तो ज्ञान निष्ठा योग्यता आएगी उसको आने पर ज्ञान निष्ठा होगी फिर ज्ञान निष्ठा किसके लिए ये प्रश्न आता है ज्ञान निष्ठा भी कुत्र उपयोगता ज्ञान निष्ठा भी कहां उपयोगी हो प्रश्न उठा तो उत्तर देते हैं मोक्ष फलापसाना मोक्ष फल में समाप्त होने वाली ज्ञान निष्ठा मोक्ष देने वाला है बंधन कोई भी नहीं चाहता मोक्ष चाहता मुक्ति चाहता है सब एक छोटा बालक भी बंधन नहीं चाहता उसको देने वाली कहा <clears throat> स्वकर्मणा भगवत अर्चनात्मनो भक्ति योग से अपने अपने कर्म जो बर्णाश्रम विहित कर्म है उसके भगवान के अर्चना रूप कर्म के द्वारा भगवत योग भक्ति योग से उसी का नाम भक्ति योग है भक्ति योग से परंपरा या मोक्ष फल से कार्यत्व न परंपरा से मोक्ष फल देने वाला होता है कर्म साक्षात तो नहीं परंपरा से परंपरा या मोक्ष फल से कार्यत्व विधेयत्व माने मोक्ष फल कार्य रूप से विधान हो जाता है अंत में मोक्ष मिलेगा क्यों कर्म करने से क्या होगा अंतकर्म की शुद्धि होगी उससे ज्ञान निष्ठा की योग्यता आ जाएगी ज्ञान निष्ठा योग्यता आने पर ज्ञान निष्ठा बनेगी ज्ञान निष्ठा बनने से मोक्ष परंपरा से मोक्ष फल के कर्तव्य कार्य कार्यत्व कार्य से विधान करता है करने से विधि अपेक्षिताम स्तुति होता है विधि है विधान होना है मोक्ष उसके लिए किसके लिए उसके लिए अपेक्षा स्तुति प्रशंसा करेंगे इसके स्तुति तो में होता है स कहा स भगवत भक्ति योग वही जो भगवान की भक्ति योग माने कर्मयोग है जिसका हम कर्म स्तूयते उसी का प्रशंसा की जाती है भगवान की क्या देखो मुख्य देने वाला तो परंपरा से ऐसा है शास्त्रार्थ प्रसंगार प्रकटे शास्त्रार्थ निश्चय दाढ़िया कहा था शास्त्र गीता शास्त्र का जो विषय है उसको यहां उपसंहार होना अष्टादश अध्याय में यह प्रकरण वही चल रहा अभी शास्त्रार्थ निश्चय दार्य गीता शास्त्र का जो अर्थ है उसका निश्चय की दृढ़ता के लिए क्या यही है गीता शास्त्र का तात्पर्य यही है करके निश्चय के लिए दृढ़ता के लिए है यही निश्चय गीता शास्त्र का निश्चय ही होता है पहले वर्णाश्रम भेद कर्म करे निष्काम भाव से ईश्वरार्पण विधि से कर्म करे कर्म करने से क्या होगा ज्ञान रखकर योग्यता आएगी उसके बाद ज्ञान निष्ठा होगी फिर मोक्ष मिलेगा यही है गीता शास्त्र का प्रयोजन यही है इसको दृढ़ करने के लिए कहा ठीक है कहते हैं ज्ञान निष्ठा कर्मनिष्ठा इति उभयम प्रतिज्ञा दो प्रकार की निष्ठा की प्रतिज्ञा की है यहाँ लोकेशमन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगन सांख्या नाम कर्मयोगन योगिना तृतीय अध्याय के शुरू में कहा था दो प्रकार की निष्ठा मैंने कहा है द्वितीय अध्याय में बताई है मैंने पूर्वाध्याय में दो प्रकार की निष्ठा कहा तृतीय अध्याय के शुरू में बोलते हैं भगवान लोकेशमन द्विविधा निष्ठा इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा है पूरा प्रोक्ता मया नगा पूरा माने पहले अध्याय द्वितीय अध्याय में कहा हुआ है जिसका हम कर्म की चर्चा और न जायते मृत्य कदाचित आदि के द्वारा ज्ञान निष्ठा की चर्चा है कर्मणे बाधिकार अस्ते आदि के तो कर्म निष्ठा की चर्चा है द्वितीय अध्याय में इसी के पल्लवन सारी गीता है ये ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा के विषय में ये कहना है ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा की दुभय प्रतिज्ञा आया तृतीय अध्याय के शुरू में दो प्रकार की निष्ठा की प्रतिज्ञा की तत्र तत्र विभाग है ना उस स्थान पर तत् उन्होंने अध्यायों में गीता में विभाग पूर्वक प्रतिपादित कभी ज्ञान निष्ठा की प्रतिपादन किया कभी कर्म निष्ठा की प्रतिपादन किया उन्होंने अध्यायों में किम यदि इदारण कर्मनिष्ठा पुनस्तुत्या कर्तव्यता उचित फिर अब कर्मनिष्ठा की प्रतिपादन तो हो ही चुका है पूर्व में फिर इस समय में अब अष्टादश अध्याय के अंतिम में आकर फिर कर्मनिष्ठा का प्रतिपादन क्यों किया जाता है एक प्रश्न आता है क्योंकि भगवान ने प्रतिज्ञा की दो प्रकार की निष्ठा की कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा की प्रतिज्ञा द्वितीय अध्याय में कहा तृतीय अध्याय स्पष्ट रूप से बोल दिया तो दो प्रकार की निष्ठा की कहा स्मृति विधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया रखा ज्ञान अगर संख्यान कर्म इत्यादि के द्वारा बताया है तो उसके प्रतिज्ञा करके उन्होंने अध्याय में उनके प्रतिपादन भी हुआ दोनों निष्ठाओं की कहे ज्ञान निष्ठा की कहे कर्म निष्ठा की गीता में यही प्रतिपादन करते आए फिर किम इति इधान अब इस समय में अब शास्त्रार्थ को उपसंहार के समय में यहां इधानी कर्मनिष्ठा पुनः स्तुत्य कर्मनिष्ठा की फिर स्तुति करके कर्तव्य उचित प्रशंसा करके उसके कर्तव्य क्यों रूप से क्यों कहा जाता कर्मनिष्ठा को फिर कर्तव्य क्यों दिखाया यह प्रश्न है तो उत्तर देते हैं शास्त्रार्थ निश्चय आ गया है गीता शास्त्र का जो विषय था चल रहा था दो प्रकार की निष्ठा उसके उस विषय को मैं निश्चय की दृढ़ता के लिए क्या कर यही है गीता में यही दो बातें कही है कर्मनिष्ठा या निष्ठा ठीक है तत्र तत्र तस्व कर्मानुष्ठान से प्रकरणानुसार उपसंहार वहां कर्म का अनुष्ठान बहुत सारे अध्याय में कहा हुआ है तृतीय अध्याय से लेकर के चलते चलते सत्र अध्याय तक कर्म की चर्चा बहुत जगह हुई है निष्काम कर्म की चर्चा तत्र तत्र तस्व कर्मानुष्ठान पूर्व पूर्व उन स्थान में कहा गया जो कर्म का अनुष्ठान है उसी का प्रकरण वसाद ही उपसा प्रकरण वश यहां उपसंहार किया जाता है यहां कर्म के प्रकरण आ गए है यहां भी हम्म। जो ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम चपरण तप कर्माणी प्रयोक्तानी स्वभाव पूर्वक गुण से कर्म की चर्चा चल रही थी अब यहां भी तो कर्म के प्रसंग से यहां उसका उपसंहार कर दिया कर्म का उपसंहार यहां हो जाता है इस श्लोक में आकर के उन स्थानों में जो विस्तार से कहा गया था और अष्टादश अध्याय में भी ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम आदि से लेकर के अभी तक कर्म की चर्चा चल रही थी कर्म के कारण क्या क्या हो जाता है कहां कहां पहुंचता है व्यक्ति सारी बातें बताई है यहां तो उस कर्म का अनुष्ठान का प्रकरण यहां उपसंहार कर दिया जाता है यही है सच शास्त्रार्थ निश्चय से दृढ़ता देवता ही देता है जो कर्म का अनुष्ठान क्या चर्चा है ना क्या दिखाता है शास्त्र का जो विषय गीता शास्त्र का जो विषय है उसको गीता शास्त्र के जो विषय का निश्चय है उसको दृढ़ता दिखाता है मजबूती से बोलता है कर्म करना चाहिए शुरू में उसके बिना आगे गति नहीं होगी जब तक वर्णाश्रम कर्म नहीं करता व्यक्ति ईश्वर के माने ईश्वर की पूजा के माध्यम से नहीं करता निष्काम भाव से नहीं करता तब तक ज्ञान निष्ठा की योग्यता आएगी नहीं अंतकरण की शुद्धि होगी नहीं ज्ञान निष्ठा की योग्यता अंतकरण की शुद्धि है वो योग्यता आ जानी अंतकरण में बुद्धि शुद्धि होनी नहीं है बुद्धि शुद्धि हो बिना ज्ञान होना नहीं है ज्ञान हुए बिना मोक्ष मिलना नहीं है तो मोक्षार्थी को सबसे पहले विद कर्म करना चाहिए ऐसे आरंभ करना चाहिए चाहे इस जन्म में हो चाहे पूर्व जन्म का हो साधन कहीं का भी हो किसी किसी को पूर्व जन्म के साधन काम कर जाता है कर्म नहीं दिखता ज्ञान हो जाता है ऐसा देखा है किसी को कर्म से शुरू करना पड़ेगा अभी स्थिति है मान साधन के बिना साध्य मिलना संभव नहीं है से चाहता है कोई तो कर्म से आरंभ करना पड़ेगा परवाश्रम विहित कर्म ये इतनी महिमा है ये दिखाया है सचा ये जो ये किसके लिए है कर्मानुष्ठान का प्रकरण किस लिए कहा शास्त्रार्थ निश्चय दृढ़ांत होता है कहा जो शास्त्र का गीता शास्त्र का जो विषय है उसका जो निश्चय है उसको यहां दृढ़ता दिखाता है यद्यपि कश्यचित कर्मानुष्ठान दो बुद्धि से द्वारा में से देते तथापि पाप बाहुल्या कर्मानुष्ठान की कश्यचित बुद्धि शुद्धि अभाव न कैबल्य असिद्धि इतिहास कहते हैं महाराज यद्यपि ठीक है कोई कुछ महाभाग्यशाली जो होंगे ना यद्यपि से कर्मानुसार कोई कोई जो होंगे कर्म के अनुष्ठान करने वाले वर्णाश्रम वेद कर्म कर रहे हो किसी किसी को कोई कोई किसी किसी को बुद्धि शुद्धि द्वारा कहीं बुद्धि शुद्धि के माध्यम से अंतकर्म शुद्धि के माध्यम से कैबल्यम सिद्ध मोक्ष सिद्ध होता है केवल स्वभाव और कैबल्यम अकेला हो जाना आत्मभाव में पहुंच जाना इसको कहते हैं मोक्ष अकेला होना तो बहुत अभी तो बहुत कुछ है शरीर है इंद्रिया है न जाने कितने वस्तु हैं हमारे साथ अकेला हो जाना इसी कारण मोक्ष होता है यद्यपि कश्यचित कर्मानुष्ठान में कोई कोई जो कर्म करने वाले व्यक्ति होंगे पुण्यात्मा जो होंगे बुद्धि सिद्धि द्वारा किसी किसी को बुद्धि के शुद्धि के माध्यम से सिद्ध थी किसी किसी को सिद्ध हो जाता है कि मोक्ष सिद्ध हो जाता है कर्मानुष्ठाई को किसको कर्मानुष्ठान करने वाले होगा किसी किसी को मुख्य सिद्धि हो जाती है बुद्धि शुद्धि के माध्यम से तथापि फिर भी किसी किसी के पाप बहुल होंगे ज्यादा पाप होंगे कर्म का अनुष्ठान भी कर रहा है तो पाप के बाहुल्य होगा किसी को तथापि पाप बाहुल्यात पाप की बहुलता के कारण कर्मानुष्ठानों की कर्म का अनुष्ठान तो कर रहा है वर्तमान में किंतु पाप अधिक है उसके पास पूर्वजन के पाप बहुत हैं इस जन्म में तो कर्म का अनुष्ठान तो कर रहा है कर्मानुष्ठानों भी वर्णाश्र भेद कर्म का अनुष्ठान कर रहा है जिसका हम भाव से कर रहा है करने वाले को भी कश्य से तो किसी का बुद्धिशुद्धि होगी नहीं क्यों पाप के बाहुल्य है कर्म कर रहा है किंतु तो पाप की अधिकता होने से अधिक होने से बुद्धि शुद्धि नहीं हो पाई बुद्धि शुद्धि अभाव है ना बुद्धि शुद्धि के अभाव के माध्यम से कैवल्य असिद्धि फिर केवल स्वभाव अभावम कैवल आत्मभाव में पहुंचना सिद्ध नहीं हो पाया ज्ञान होगा नहीं बुद्धि शुद्धि के अभाव से ज्ञान नहीं होगा तो मोक्ष नहीं होगा इति आशंका ऐसा किसी शंका कोई करे तो उत्तर देते हैं नहीं सर्वकर्माणी विसरा यहां से उत्तर दिया श्लोक में सारे कर्म करता हुआ पाप कर्म भी यदि हो तब भी मोक्ष प्राप्त करता है यही है सर्वकर्माणी अभी भाष्य में कहा सर्वकर्माणी मानी सारे कर्मों ने प्रसिद्धानी अभी माने शास्त्र विहित कर्म तो करे नहीं करेगा ही किंतु प्रसिद्ध कर्म भी यदि करता निषिद्ध प्रतिषिद्ध कर्म शास्त्र ने जिसका निषेध किया ऐसा कर्म करता हुआ भी इसलिए सर्व शब्द लगाया है भाष्य मूल में सारे कर्म करता हुआ भी सदा रहा हमेशा करता हुआ भी कहा अनुतिष्ठन मत उपाश्रय इत्यादि कहा था मेरे में आश्रित होता हुआ मैं जो परमात्मा हूं मेरे में आश्रित होता हुआ सारे कर्म करता हुआ भी ये कहा हुआ है टीका में कहना है नित्य नैमित्तिकवत इति अभ्यास जैसे नित्य नैमित्य कर्म कर रहा ना नित्य और नैमित्तिक कर्म इसको पाप कर्म भी करता हो यदि मेरे में आश्रित होता हुआ व्यक्ति मैं मेरे अर्पण करता हुआ मेरे में अर्पण करता हुआ पाप कर्म भी करता हो भी लगाने से करता नहीं है यदि करता हो जैसे नित्य निमित्त कर्म कर रहा है इस प्रकार पाप कर्म भी यदि करता हो तब भी क्या होगा शाश्वतम पदम अव्यम अपनोते अंत में जाके बोला वो स्वरूप में शाश्वत पद में प्राप्त करेगा ये कहना है ठीक है बहन निषिद्धाचरण से प्रामादिकत्व व्यावर्त निषिद्धाचरण में प्रामादिक के व्यावृत्ति करते हैं सदा तो प्रमाद से तो कभी कभी नहीं होगा निषिद्ध कर्म प्रसिद्ध कर्म कब होगा प्रमाद से कभी कभी होगा किंतु सदा कुर्बाणु अभी लगाया है क्या करता हुआ प्रसिद्ध कर्म निरंतर कर रहा हो तब भी यदि मेरे में अर्पित करता हो उस कर्म कर सकता हो सदा इत्यादि सब सदा कुर्बाणु रहा था यह प्रमादिक कर्म नहीं माना जाएगा हमेशा करना प्रमाद से तो कभी कभी होगा यहां तो सदा निरंतर करता अनुतिष्ठन ऐसा अनुष्ठान करता हो क्या करता है निषिद्ध कर्म जो हमेशा कर रहा हो यदि मेरे में आश्रित होकर कहा वैष्णवम पदम आप वो भी वैष्णव प्रवक्त प्राप्त होगा और व्यापक तत्व के प्राप्त होगा ये संबंध करना कहा पाप कर्म कार्य हो यथोक्त पद प्राप्त हो पाप से आप मोक्ष फल तो तो जब पाप कर्म करने वाला व्यक्ति के ये फल बता दिया मोक्ष फल बताया तो इससे क्या से तो पाप का फल भी मोक्ष ही हो गया ना क्या हो गया हम्म, ये शंका है पापकारिणो पाप कर्म कारिणो पाप करने वाला जो व्यक्ति होगा पाप कर्म करने वाला व्यक्ति का यथोक्त पद प्राप्त हो अभ्य शाश्वत पद की प्राप्ति बताया तो पाप से अभी जो पाप का भी मोक्ष फल तुम होता हूं तब तो पाप का फल भी मोक्ष ही हो ये स्वीकार हुआ ये शंका आ गई तो उत्तर देते हैं मध्य पास रहे यदि मेरे में आश्रित होकर के करता हो तो मोक्ष ही प्राप्त होगा पाप कर्म भी यदि यद्य भी करेगा नहीं मानी प्रशंसा के लिए तस्व तात्पर्य उसी का तात्पर्य बताया तो मही कहा मद का ही तात्पर्य बताया मही सर्वात्म भाव इत्यर्थ सर्वात्म भाव सर्व मेरे को सब कुछ मानता है और कोई ना मानता ऐसे कहना है तरी ज्ञान से मोक्ष हेतु तो तब कर्म के द्वारा ही मोक्ष सिद्ध कर पापकारी को पाप कार्य करने वालों को शाश्वत पद प्राप्त होता तो ज्ञान का फल जो मोक्ष कहा था उसको उपेक्षा कर दी गई तब तो ज्ञान से मोक्ष नहीं माना कैसे माना कर्म से यदि पाप कर्म भी करता हो मेरे में आश्रित होता हुआ करता हो तो मोक्ष मिलेगा बोल दिया तरी अब तो ज्ञान से मोक्ष तो उपेक्षित ज्ञान को जो मोक्ष का कारण माना हुआ है उपेक्षित हो गया फिर तो ये शंका आगे तो उत्तर देते हैं शोपी इत्यादि कहा हुआ है शोपी मत प्रसाद ऐसे पाप कर्म करने वाले मेरी कृपा से मेरी प्रसन्नता से ममेश्वर से प्रसादात ही कहा अभाप होती शाश्वतम नित्यम वैष्णव पदम अभ्यम कहा शाश्वत पद व नित्य पद विष्णु संबंधी पद व्यापक पद अव्य अविनाशी पद को प्राप्त कर जाता है माने यदि ऐसे कर, पापी भी ऐसा हो जाता है पाप कर्म करने वाला भी नित्य करने वाला भी मेरे में आश्रित होता हो तो मोक्ष प्राप्त कर पुण्यात्मा होगा तो क्या नहीं होगा मोक्ष इसके लिए है प्रसाद माने क्या है कहते अनुग्रह मेरे अनुग्रह से मेरे में सारे कर्म अर्पित करता हूं मेरा अनुग्रह होगा उसके पास अनुग्रह सम्यक ज्ञान उदय हाँ, मेरा अनुग्रह क्या है उनके सम्यक ज्ञान का उदय होगा आत्मज्ञान होगा क्या कोई हमने बोल रहे हैं पदम माने नियम प्राप्त करने योग्य को पद कहा जाता है प्राप्त करने योग्य क्या मोक्ष है वही है पद नियम उपनिषद तात्पर्य गम उपनिषद का तात्पर्य से जाना जाता है जो पद जाना जाता है उपनिषद का तात्पर्य किसमें है सारे उपनिषदों का तात्पर्य किसमें ये ब्रह्म के ऐक्य है वही पद है अव्यय अपक्षय रहितम अव्यय का अर्थ क्या है अपक्षय नहीं होता उसमें अपक्षय के बाद विनाश होना था अपक्षय नहीं जिसका क्षीण नहीं होता जो पद यही है परमेश्वर प्रसाद से एवं महात्म परमेश्वर की प्रसन्नता ये ये महात्मा है ये महिमा है परमात्मा प्रसन्न होने पर क्या होगा यदि पाप कर्म भी करता हो निरंतर करता तब भी उस पद को प्राप्त कर जाता है अविनाशी पद को प्राप्त होता है तो ये महिमा है परमात्मा की हम्म। परमेश्वर प्रसाद से एवं महात्मा इस प्रकार महात्मा मैंने महिमा ये महिमा है यथा सिद्धम ऐसे सिद्ध है तस्मात इसी कारण से कहते हैं तत्प्रसादार्थम भवता प्रयत द्रव्यम आपके द्वारा उसी के ईश्वर की प्रसन्नता के लिए प्रयत्न करना चाहिए आपका सारा कर्तव्य उसी में होगा ठीक है तत्प्रसाद के लिए उसी प्रसन्नता के लिए ईश्वर की प्रसन्नता के लिए ही भवता प्रयत्न तो आपके द्वारा प्रयत्न वही करना चाहिए जहां परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए ये साधकों के लिए कहा जाता है यस्मात इत्यादि यस्मात भगवान के प्रसाद से कृपा से पाप कर्म करने वाले मुक्त होता है तो आपको उसी में करना चाहिए ईश्वर में शरणागति में रहना चाहिए तस्मात एवं तस्मात इसलिए कहते हैं आगे श्वेतसा सर्वकर्माणी मई संयस मत्पर तद्योगम उपाश्रित मच्चित्त सततम भव चेतसा सर्वकर्माणि मयि संयस्य मत्पर बुद्धियोगम उपाश्रित मच्चित्त सततम भव चेतसा विवेक बुद्धिया विवेक बुद्धि के द्वारा सर्वकर्माणी मई संन्यास से सारे कर्मों को जो भी कर्म तुम करते हो मेरे में अर्पित करके यही अर्थ होता है संन्यास करना किन का कर्मों का अपने में फल के लिए नहीं रखना कोई कर्म कर्तृत्वाभिमान फलाभिमान दोनों को त्याग करना सर्वकर्माणी चेतसा मई सन्यास्य मेरे में संन्यास करके या अस्मत शब्द के द्वारा भगवान अपने लिए बोलते हैं मेरे में मई ईश्वरे या तो ईश्वर में संजय से संन्यास करके क्या कर्मों का संन्यास कहा मेरे में सारे कर्मों का संन्यास कहा विवेक के द्वारा त्यागना कर्म तो करना फल त्याग देना ईश्वर में त्यागना अपने लिए फल नहीं चेतसा मान विवेक बुद्धि अब विवेक बुद्धि के द्वारा सर्वकर्माणी मई संजय से सारे कर्म मेरे में अर्पित करता हुआ ये अर्थ है संन्यास करके मत पर मत परायण होकर अहम परो यश्य मैं सबसे श्रेष्ठ हूं पर मैं हूं तत्परता मेरे में जिसकी मुझे भगवान ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए ऐसी बुद्धि हो उसको पर कहा जाता है अहम परो यश सपत्पर मैं ही पर हूं श्रेष्ठ मैं हूं जिसके दृष्टि में उसको मत पर कहा मत पर होता हुआ बुद्धियों को मुआश्रित बुद्धियों को आश्रय लेना क्या लेना है बुद्धियों को उपाश्रित बुद्धियों को लेना मन बुद्धियोग यही है हम्म। कि कर्म करना फल ईश्वर को अर्पण करना फलाकांक्षा नहीं रहा के इसको कहते हैं ऐसा थे भीता सांगे बुद्धि रोगे तुम्हारा सुनो यही कहा था बुद्धियायुक्त तो या पाता कर्मबंधन प्रहास से कहा था जिस बुद्धि से युक्त होकर कर्मबंधन को पार कर जाओगे नाश कर जाओगे अभी तक मैं सांख्य विषय बोल रहा था द्वितीय अध्याय भगवान बोलते हैं न मृत्यु मृदेवा कदाचित आदि बोल रहा था सांख्यो मैंने ज्ञान योग के बारे में बोल रहा था बुद्धि योग है तुम्हारा सुनो अब बुद्धियों के विषय सुनो ये बातें सुनो आगे की बात सुनो ये कहते हैं ये कहा हुआ द्वितीय अध्याय में बुद्धि होगा निष्काम कर्मयोग फलाभिलास रहित होकर के कर्म करना ईश्वर के लिए कर्म करना इसको बुद्धियोग कहा गया है है परम कर्म बुद्धि धनंजय काम्य कर्म बहुत निकृष्ट है इसके अपेक्षा बुद्धियोग की अपेक्षा निष्काम कर्म की अपेक्षा बुद्ध शरण निश्चय कृपणा फल है तो भाई बोल के आए बुद्धि के शरण में जाओ बुद्धियों के शरण में जाओ कर्म करो माने भगवान के अर्पित करके करो अपने अपने खाते में मत रखो उसको बुद्ध मन इच्छा कृपणा फल है तो फल चाहने वाला कर्म का फल चाहने वाला कृपण होता है दरिद्र होता है तो तुच्छ फल प्राप्त करेगा विनाशी फल प्राप्त करेगा और मेरे में करता है तो अविनाशी फल प्राप्त करेगा स्थिति ऐसी है ये कहना है यहां बुद्धि एवं उपाश्रित कहा बुद्धि के आश्रय लेकर के मच्चित्त मई चित्तम यश्य सब मच्चित्तम मन मेरे में हो जिसका अस्मत शब्द से भगवान अपने लिए बोल रहे हैं मई परमेश्वर चित्तम यश्य मैं जो परमेश्वर हूं मुझ में चित्त है जिसका निरंतर मेरा ही चिंतन में है जो व्यक्ति मच्चित्त सतत निरंतर मेरे में चित्त लगाने वाले हो जाओ मन मेरे में लगाने वाला हो जाओ विषयों की तरफ नहीं ये उपदेश है भगवान का हमारे लिए चेतसा सर्वकर्माणी मई संदेश मत पर कहा एक बात तो है विवेक बुद्धि के द्वारा सारे कर्मों को मेरे में त्याग करके फलाभिलाषा नहीं तो करके ईश्वरात्म से कर्म करके अर्थ होता है और मतपरायण होकर के आम हम्म, पर हो ऐसे सब मत पर जैसे छोटा दूध पीने वाला बालक के लिए माता परायण होते उसके बिना गति नहीं उसकी ऐसा समझता है वो ऐसा ही ईश्वर परायण हो बुद्धियोग को आश्रय तो बुद्धियोग के आश्रय लेकर के माने निष्काम बाप से कर्म को बुद्धियोग कहते हैं कर्म करना जिस काम भाव से करना उसको कहते बुद्धि योग उसके आश्रय करके कहा मत चित्त सतन भाव मेरे में हमेशा चित्त लगाने वाले हो जाओ मेरे में ही मन को मेरे में अर्पित करके रखो यही हो जाओ इसी से तुम्हारा कल्याण होगा ये कहना है भाष्य में कहा चेतसा माने विवेक बुद्धिया यही है चेतसा तृतीयांत है उसका अर्थ विवेक बुद्धिया विवेक बुद्धि के द्वारा सर्वकर्माणी दृष्टा दृष्टार्थान दो प्रकार के कर्म है दृष्ट और अदृष्ट दो प्रकार के कर्म होते हैं एक तो अदृष्ट के लिए स्वर्ग आदि के लिए कर्म किया जाता है एक दृष्ट फल के लिए यह लौकिक पुत्र आदि के लिए कर्म किया जाता है पुत्रादि प्राप्ति दृष्ट फल और स्वर्गादि प्राप्ति अदृष्ट फल सर्वकर्माणी दृष्टादृष्टार्थानी का दो प्रकार के कर्म सर्वकर्म से दो प्रकार के प्रकार तो है कर्म तो अनेक है दृष्ट भी अनेक है अदृष्ट भी अनेक है दृष्टादृष्टार्थाने दृष्टादृष्ट प्रयोजन वाला दृष्ट प्रयोजन अदृष्ट प्रयोजन वाले जो कर्म होते हैं मई ईश्वरे सन्यास मई का अर्थ ईश्वरे कहा मुझ ईश्वर में सन्यास संन्यास करके त्यागना तो नवम अध्याय में कहा था वही बात यहां कहा कहते हैं यद करोसी यदस्नासी यज्ञोसी ददासी यद यद तपस्या से कहते यद तत्पुरुषम अदर्पणम ऐसा नवम अध्याय में कहा हुआ था वही बातें हैं दोहरा रहे मैं संन्यास का अर्थ यही है जो यद करोशी आदि कहा था नवो बद्या यद करोशी जो कुछ तुम करते हो या रसनाशी जो कुछ तुम खाते हो खाना तुम नहीं है करना तुम नहीं है यद ददाशी जो कुछ देते हो यद जुहोशी जो कुछ हवान करते हो हाँ, या तपस्या से जो तप करते हो कौन हैं तत्पुरुष समर्पण करना तुमने ये फल तुमको मिलना रहा है किंतु मेरे अर्पित कर दो उसके बात इतनी है मेरे लिए अर्पित करो इसे क्या सुभाषु फल मोक्ष से कर्म नहीं कहा होगा सुभाषु जो कर्म का फल मिलना था मुक्त हो जाओगे मेरे अर्पित कर्म में तुम्हारे लिए फल नहीं मिलेगा कर्म रूपी बंधन से मुक्त हो जाओगे नवोविद्या बोल के आए थे वही बातें यहां भी कह रहे हैं यद करोशी यदस्नाशी इत्यादि कहा था नवोध्याय में यद करोशी यदस्नाशी यजोशी तपस्या यद ददासी यद तपस्या जो कहते हैं तत्पुरुष कहा था यदि उक्त न्याय वही युक्ति है जैसे वहां कही गई युक्ति उसी प्रकार की युक्ति यहां भी है श्लोक में भी चेतसा सर्वकर्माणी मैसठ से मत पर इत्यादि का भी यही है मत परो आया आगे सर्वक्रमा चेतसा सर्वकर्माणी मैसठ से हो गया आगे मत पर माने मत में जो अस्मत शब्द है ये तो अस्मत शब्द क्या क्या है कहते हैं अहम शब्द बोल रहे हैं भगवान अपने लिए बोल रहे हैं अहम वासुदेव परो ऐश्य मैं वासुदेव की परम गति हुई उसके बिना कोई गति नहीं समझता ऐसा हो ऐसा तब जिस तुम्हारा ऐसा हो सत्व मत पर तुम्हें कहा जाएगा मत पर मत परासन मत परायण होता हुआ तुम बुद्धि योगम समाश्रित है बुद्धि योग माने मई समाहित बुद्धि तो मेरे में एकाग्र बुद्धि वाले को बुद्धि योग कहा जाता है मेरे में एकाग्र बुद्धि हो तुम्हारी इसी को कहा बुद्धि योगम बुद्धि योग वही है तम बुद्धि योगम उपाश्रित कहा उस बुद्धि को आश्रय करके आश्रय हो अनन्य शरण तो मेरे में अनन्य शरण हो अन्य शरण जिसका न हो जैसे द्रौपदी जब अन्य शरण में गई तब उसको उद्धार हुआ था पहले नहीं अन्य के शरण में थी वो विश्व पिता महादी इतने बड़े बड़े बैठे हैं तो यहां पर ऐसे उद्दंडता नहीं होगी ऐसे सोच रही थी उनकी तरफ दृष्टि थी दुशासन दुर्योधन खींच रहे थे दुशासन खींच रहा है उनके वस्त्र खींच रहा है तो दृष्टि थी वो जरूर इनको डांट फटकार लगाएंगे फिर आगे अपने पतियों के ऊपर भरोसा हुआ पांच पांच पति हैं जो देवताओं के अंश लेकर आए हुए हैं ये जरूर मेरी लज्जा रखेंगे भगवान नहीं आए तब तक अपने बल का प्रयोग किया कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रयोग करता है साड़ी खिचड़े का प्रयोग किया नहीं हो पाया आखिर में कहा दुशासन आए शकुनी का बल दुशासन का बल कहा अवला तब हा कृष्ण करके हाथ खड़ा कर दिया या द्वारिका नाथ तब भगवान में रक्षा की यही है मत पर्व होना ऐसा चाहिए तत्पराय होना चाहिए यही है मत पर्व माने अहम वासुदेव परवेश कहा सत्व सत्व मत पर ऐसा होता हुआ बुद्धि योगम माने बुद्धि योग का अर्थ होता है मई समाहित बुद्धित्व कहा मेरे में समाहित एकाग्र हो बुद्धि जिसके ही तम बुद्धि योग उपाश्रित कहा मैंने आश्रय अन्य सर्वतम मैंने बुद्धि योग में आश्रय लेना माने क्या है अनन्य शरण अन्य के शरण में नहीं रहना भगवान ही एकमात्र मेरे शरण है ये समझ के बैठना अन्य कोई शरण में नहीं ऐसा होके रहना मत चित्त माने यहां भी वही बहुरी समास है मई चित्तम यश से मत चित्त मेरे में चित्त है किसका निरंतर चिंतन मेरा ही चलता है मत मई एवं चित्तम यश मेरे में ही चित्त है जिसका सत्वम अचित्त यह है सततम सर्वदा भव ऐसे हो जाओ तुम कहते हैं निरंतर मेरे में चित्त लगाने वाले हो मेरे पे माने अनन्य शरण होकर रहने वाले हो सारे कर्मों को मेरे में त्याग त्यागने वाले हो जाओ मतपरायण हो जाओ हमेशा ये हो इसे तुम्हारा कल्याण होगा यही कहना है ठीक है मैं कहा भगवत प्रसाद आसादित सम्यक ज्ञानादेव मुक्ति ही भगवान की जो प्रसन्नता से प्राप्त होता है सम्य ज्ञान क्या प्राप्त होगा सम्य ज्ञान होगा यथार्थ ज्ञान होगा अहम ब्रह्मास्म अभाव में पहुंचेगा भगवान की प्रसन्नता से भगवत प्रसाद आसादित भगवान के प्रसन्नता से जो प्राप्त होने वाला है सम्य ज्ञान है उसी से ही मुक्ति है न कर्म मात्र मात्रा कर्म मात्र से मुक्ति नहीं होगी कर्म तो परंपरा से साधन है किंतु मुक्ति के पूर्व काल में ज्ञान है रित ज्ञान न मुक्ति पूर्व श्रेणी में ज्ञान है ओ ज्ञान वैसे होगा नहीं कर्म के माध्यम से होगा जिसका हम कर्म शुरू के साधन है वहां से चलते चलते होगा पेड़ करता है अंतिम चोट से करता है पहली बार चोट से करता है कुलाड़ी मार रहे पेड़ में पेड़ में तो अंतिम जो प्रहार होगा उससे कटेगा पेड़ अथवा पहले वाले से कटेगा सारे मिलकर करता है पहले वाले नहीं कटे तो अंतिम चोट हो ही नहीं पाएगा तो कहां से गिरेगा पेड़ पहले वाले परंपरा से साधन होते हैं जितने बार आपने प्रहार किया सबसे साधन हो जाता हो चलते चलते वहां पहुंच जाता है उसके बाद कार्य सफल हो जाता है ऐसा ही है <clears throat> तो भगवत प्रसाद आसादित भगवान के जो प्रसन्नता है माने वर्णाश्रम भी जो कर्म करने से भगवान प्रसन्न होते हैं आसादित सम्यक ज्ञानादेव उसे सम्यक ज्ञान होगा भगवान की प्रसन्नता से सम्यक ज्ञान मुक्ति उसी से मुक्ति होगी सम्यक ज्ञान से न कर्म मात्र केवल कर्म मात्र से नहीं होगी कर्म कर्म से भगवान प्रसन्न तो होंगे भगवान प्रसन्न होने से अंतकर्म की शुद्धि होगी अंतकर्म शुद्ध होने पर ज्ञान लक्षण योग्यता आएगी ज्ञान लक्षण योग्यता आने पर ज्ञान होगा ज्ञान से मुक्ति होगी परंपरा है सब यदि ज्ञानम विवेक बुद्धि इसलिए ज्ञान यहां विवेक बुद्धि को ही ज्ञान कहा गया है यहां बुद्धियों का अर्थ यही है कहा आश्रय शब्दार्थ आश्रय क्या है हम्म, आश्रय उपाश्रित का आश्रय कहा अन्य शरण बोलते क्या बोलते आश्रय अन्यत्र शरण हो मेरे में शरण हो जिसका न अन्य शरण अनन्य शरण नए समास है अन्य में कोई शरण नहीं ले पाता मेरे में शरण मानता हूं किमो बहुत जल हो गया सारे कर्म आप में आर्पित कर दिया किसी ने आप पराय हो गए मत पराय हो गया आप पर बुद्धियोग में आश्रय भी है अनन्य शरण भी हो गया है और आप में चित्त लगाने वाला होगा इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा प्रश्न उठता है सारे के सारे जिंदगी आप में समर्पित कर दिया जिसने उसको क्या मिलेगा जो प्रयोजन अनुदिश्य मंदों की न प्रवर्तित है प्रयोजन को देखे बिना मंद से मंद बुद्धि वाले की प्रवृत्ति नहीं होती प्रवृत्ति होती है तो प्रयोजन पहले दिखता है वहां जाने पर यह कार्य करने पर फल इतना होगा पहले प्रयोजन दिखेगा प्रयोजन को देख करके व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है तो यहां प्रवृत्ति हो रही कर्मादि में बोला प्रवृत्ति लगा रहे प्रयोजन क्या सिद्ध होगा ऐसे में ये प्रश्न है कि बहुत ही सारे के सारे सारे कर्म आपने अर्पित कर दिया जिसने आप ही परायण हो गया और बुद्धियों का आश्रय लिया बने अनन्य शरण में चला गया और आप में चित्त लगाने वाला हो गया तो क्या मिलेगा उसको इससे क्या हो फायदा क्या होगा प्रश्न होता का उत्तर देते हैं मच्चित्त सर्वदुर्गा मत प्रसाद तरीष्यसे अथ चहंकारा न सुरस्यसि विनंससे मच्चित्त सर्वदुर्गा मत प्रसाद तरीष्यसे अथ चहंकारा न सुरस्यसि विनंससे मच्चित्त मई चित्तम यश्य स मच्चित्त जिसका चित्त मेरे में ही रंगा हुआ है अन्यत्र नहीं जाता अन्य शरण हो गया है जो ऐसे व्यक्ति को मच्चित्त कहा जाता है अहम मई चित्तम ऐसे ऐसा विग्रह करना सप्तम समास है मेरे में ही चित्त है जिसका उसको कहा जाता मच्चित्त चित्त यहां अस्मत शब्द से भगवान अपने को बोल रहे हैं नहीं जो तो ईश्वर में ही चित्त है जिसका उसको मच्चित्त कहा जाता है उसको क्या होगा मेरे में चित्त लगाने वाला हो गया अन्यत्र नहीं है तो अन्य शरण में पहुंचा हुआ है तो क्या होता है सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा मत प्रसादा सर्व दुर्गाणी दर्शती मेरे प्रसन्नता से मेरे में चित्त लगाए तो मुझे प्रसन्नता होगी तो मेरे प्रसन्नता से सारे दुस्तर हैं उसको दुर्ग कहा जाता है जो उसको वहां से निकलना मुश्किल हो उसको कहा जाता दुर्ग बोला जाता है राजाओं के किले होते थे ना पहले उसको दुर्ग बोलते थे उसको पार करना मुश्किल होता था अभेद्य होते थे ऐसे दुर्ग मान दुस्तर जो जन्म वर्ण रूपी दुस्तर है सागर इसको पार करना इतना सरल नहीं जन्म वर्ण रूपी सागर से करिष्यसी पार हो जाओगे मेरे में चित्त हमेशा लगाओगे तो ये आता है सर्व दुर्गाणी सारे के सारे जितने दुर्ग हैं दुस्तर दुर्ग हैं दुस्तर उसको पार करना जिसको उसको दुर्ग बोलते हैं दुस्तर बोलते हैं संसार रूपी समुद्र जो जन्म वर्ण रूपी समुद्र है इसी के चक्कर में पड़ रहा हैं हमेशा इससे पार हो जाओगे मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात मेरी प्रसन्नता से तुम पार हो जाओगे तरिष्य से तर जाओगे पार हो जाओगे अथ चेत यदि चेत यदि अव्यय है चेत यदि यदि तुम अहंकारा न सोचसी अहंकार के कारण मैं पंडित हूं ये भगवान के वचनों को पालन करने की मुझे क्या आवश्यकता है मैं स्वयं शास्त्र का निर्णय कर सकता हूं पंडित होकर के अहंकार के कारण अहंकारात चेत मानी यदि अहंकारात न से मेरे वचनों को नहीं सुनोगे यदि मैंने जो जो कहा ये गीता में अभी तक हम्म। तो कर्म निष्ठा ज्ञान निष्ठा बताइए मैंने दो प्रकार के न से सुनोगे नहीं तो विलंब से नाश हो जाओगे फिर संसार में पड़े रहोगे मेरे वचनों को पालन नहीं करोगे तो यही है अपने पांडित्याभिमान के कारण क्या है मैं पंडित हूं सर तो जानकार हूं तो क्यों इनके वचनों को पालन करूं ऐसा करके अहंकार के माध्यम से चलोगे तो बिना शशि मेरे वचनों को नहीं सुनोगे तो नाश की ओर जाओगे फिर संसद जन्म मरण के चक्कर में जाओगे ये कहना है रस आदर्शन है नक्षति वही है भाष्य में होगा मत चित्त मई चित्तम यश्य सब मत चित्त मेरे वही चित्त है जिसका ऐसा होता हुआ ही कहा है सर्व दुर्गाणी माने सर्वाणी दुस्तराणी संसार हेतु जाता नहीं कहा सबके सब दुस्तर है पार करना जिसको मुश्किल होता है दुख है ना तब तुम ऐसा होते दुस्तरा दुस्तराणी कहा जिनको तैरना मुश्किल है पार करना मुश्किल है दुस्तर कहा जाता है वो दुर्गा शब्द दुस्तर कर दिया सर्व दुर्गाणी माने सर्वाणी दुस्तराणी संसार हेतु जाता नहीं संसार के कारण वर्ग जितने संसार देने वाले कारण ये दुस्तर होते हैं जन्म प्रणादि जो कारण होते हैं संसार प्राप्त के मत प्रसादात से कहा मेरी प्रसन्नता से मेरे लिए कर्म करोगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा मेरे मैं प्रसन्न होने से ये संसार सागर से पार कर जाओगे तरिष्यसी तरीके से कहा तो अतिक्रमण करोगे संसार सागर को अथ चेत यदि तुम ये प्रसंग बताने लिए अथ लगा दिया अब चेत मानी यदि अव्यय है वो यदि यदि अर्थ में प्रयुक्त है यदि तुम मधुक्त अहंकार मैंने जो कहा हुआ है ना गीता में जो कहा हुआ दो प्रकार के अर्थ है कर्म और ज्ञान निष्काम कर्म और ज्ञान दो प्रकार की बातें कही पूर्व अवस्था में निष्काम कर्म उत्तर अवस्था में ज्ञान कर्म समुच्चय है कर्म और ज्ञान में सम समुच्चय नहीं है कर्म समुच्चय है पहले कर्म पश्चात ज्ञान कर्म समुच्चय सम समुच्चय हो नहीं सकता मैंने ज्ञान होने के बाद कर्म होना संभव नहीं है ज्ञान तक कर्म नहीं होगा ज्ञान के पहले कर्म है कर्म समुच्चय है तो यदि तो मधुक्त अहंकार मैंने जो कहा हुआ ज्ञान कर्म कर्म और ज्ञान के विषय में कहा हुआ है गीता में मैंने पूर्व अवस्था में कर्म करना निष्काम भाव से कर्म करना ईश्वरार्थ बुद्धि से कर्म करना उसे अंधकर्म की शुद्धि होगी उसकी योग्यता आ जाएगी ज्ञान की योग्यता आएगी ज्ञान योग्यता होने पर आगे उपनिषद आदि का श्रवण करोगे ज्ञान होगा ज्ञान होगा तो मोक्ष मिलेगा पूर्वा प्रभाव है ज्ञान और कर्म में पहले कर्म उत्तर में ज्ञान ये दो बातें सारे शास्त्रों में दो ही बातें होते हैं चाहे उपनिषद पढ़ो कहीं भी पढ़ो ठीक है यदि कर्मों का निषेध कहीं शास्त्रों में किया था तो काम्य कर्म का निषेध है किसका है निंदा की कर्मों की काम्य कर्मों का है नित्य नैमित्तिक कर्म का नहीं है निष्काम कर्म के कभी निंदा नहीं प्रश्न उसके बिना अंत कभी शुद्धि होगी नहीं कर्म की निंदा है तो काम्य कर्म की तो कहते हैं तो सर्वोदाहरण सर्वाण दुस्त्राण संसार हेतु जाता पर बरतर स्थिति अधिक माने मेरे में चित्त लगाने और निरंतर मेरे में चित्त है जिसका उसको क्या है सारे दुर्ग जितने भी हैं दुस्तर संसार सागर है जन्म मृत्यु के कारण जितने भी हैं उससे तो धर्माधर्म होते जन्म मृत्यु के कारण उसे तुम पार कर जाओगे ये कहा अथ चेत मानी चेत मानी यदि यदि पांडित्याभिमान के कारण मैं स्वयं पंडित हूं इनके बाद प्रजनों के मानने की मुझे आवश्यकता नहीं ऐसे मानोगे तो इत्यदित तुम मधुक्तम मैंने जो कहा है जो यहाँ ज्ञान और कर्म के बारे में बताया है अहंकारात अवनहंकार के कारण पंडितो अहम यदि मैं पंडित हूं स्वयं ऐसा मान करके अहंकार लेकर न से मैंने जो कहा उसको सुनोगे नहीं मधुक्तम न से मैंने जो कहा ये गीता में क्या कहा कर्म और ज्ञान की चर्चा की है मैंने पूर्व अवस्था में निष्काम बाप से कर्म करो आगे ज्ञान यही है पंडितो हम इति न से मधुपतम न सुरक्षित मैंने जो कहा उसको नहीं सुनोगे तो न ग्रहिष्य से न सुरक्षित ग्रहण नहीं करोगे मैं तो पंडित हूं इनके बातों को पाने की आवश्यकता है मुझे ये समझ करके ततः इसी कारण से मेरे वचनों को नहीं ग्रहण करोगे तो तुम विनक्षसी तुम न अनाश की ओर जाओगे विनाशम कभी शशि यही है विनक्षसी का था विनाश की ओर जाओगे माने फिर जन्म मरण के चक्कर में पड़ोगे मुक्ति से दूर हो जाओगे ये कहा है ठीक है मैं स्वातंत्र सती भीतर हो नास्ती आ आशंका मैंने मेरे वचनों को नहीं सुनने वाले तो स्वतंत्र होने पर भाई होने की कोई जरूरत नहीं ऐसा मान करके मैं स्वतंत्र हूं अच्छा अच्छा भी प्रवर्तेता यदि मनो विपरीत समा डर से भी प्रवृत्ति होगी ऐसा मानता हुआ मान मान डर से भी प्रवृत्ति होगी भगवान ने कहा करके नहीं डर होगा करेगा मनवाने विपरीत वो विपरीत मानोगे यदि भी माने डर से भी करना चाहिए मैं मेरे वचनों को पालन करना चाहिए तो विपरीत होने पर क्या दोष बताते हैं अथ चेत तुम अहंकारात नश्वर से मेरे वचनों को नहीं माने मेरे वचनों को डर से भी सुनना चाहिए तुम्हें समझना चाहिए भगवान ने कहा हुआ है ऐसा मानते विपरीत होने पर क्या होगा नाश की ओर जाओगे अच्छा जब तुम अहंकार न से बिना से यही कहा हुआ है यही है अच्छा। आगे कहते हैं <clears throat> स्वातंत्र सती भीतर बका सुनाती स्वतंत्र होने पर डर नहीं होता व्यक्ति को इति आशंका मैं स्वतंत्र हूं मुझे क्या डर है ऐसा अर्जुन प्रश्न करे किसी भी श्रोता के मन में ऐसा प्रश्न उठे मैं स्वतंत्र हूं किसी अधीन तो हूं नहीं यदि मैं भगवान के अधीन होता तब मुझे भट डर डर होता मैं स्वतंत्र हूं स्वातंत्र सती भीतर अवकाश होना भय का अवकाश है ही नहीं इति आशंका शंका कर उत्तर देते हैं इदम चया न मंतव्यम ये कभी तुम्हें नहीं मानना चाहिए ये बात नहीं समझना कभी नहीं मानना स्वतंत्र हम मैं स्वतंत्र हूं किम अर्थम परोक्तम करिश्यामी मैं पंडित हूं स्वतंत्र हूं मैं अपने आप अर्थ निकालूंगा दूसरे का कहा हुआ क्यों करूंगा मैं ये कभी नहीं मानना चाहिए स्थिति ऐसी है इदम से तो या न मंतव्यम इस बात को कभी तुमने नहीं मानना चाहिए स्वतंत्र अहम अहम स्वतंत्र मैं स्वतंत्र हूं ऐसा कभी नहीं मानना किमर्थम पर करीश्यामी दूसरे का कहा हुआ क्यों करूंगा मैं स्वतंत्र हूं ऐसी कभी भी नहीं मानना चाहिए तुम्हें स्थिति है क्यों सूक्ष्म विषय है बहुव्य श्रोतव्य बहव श्रोतव्य ऐसा है बहुतों से सुनना चाहिए बहुत बहुत सुनना चाहिए ऐसा कहा जाता है सूक्ष्म है विषय है अपने आप मनमाना अर्थ आएगा नहीं गुरुमुखी होना चाहिए मनमुखी नहीं होना चाहिए व्यक्ति को क्यों व्याकरण आदि का ख्याल जानता है ठीक है न्याय पढ़ा है व्याकरण पढ़ा है अर्थ करेगा जो किंतु तो समस्त पद में जो अनेकार्थक शब्द होगा कोई शब्द एकार्थक होते हैं वो ठीक है एक शब्द का अर्थ एक ही है विषय एक ही हो गया जो अनेकार्थक शब्द होगा वो उलझने आएगी या क्या अर्थ करना सही होगा समास ऐसा है बहुबरी समास करेंगे तो कहीं और अर्थ आता है तत्पुरुष करेंगे तो कहीं और अर्थ आ जाता है कौन सा समास अविष्ट होगा यहां पर प्रसंग ज्यादा यदि गुरुमुख से पढ़ा होगा उसको कोई भाई नहीं होगा रास्ता मिल जाएगा मनोमुखी होगा तो मुश्किल पड़ेगा अनेकार्थक शब्द में क्या अर्थ निकाला यहां अर्थ का अनर्थ न करे इसलिए कभी साधक को सोचना चाहिए बड़े लोगों से सुनकर ये अर्थ निर्णय करना चाहिए इदम से तो या न मंतव्य में कहते तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं मानना चाहिए स्वतंत्र हम मैं स्वतंत्र हूं किमर्थम परोक्तम कर श्यामी दूसरे का कहा हुआ क्यों करूंगा ऐसा कभी भी नहीं मानना चाहिए कहा यदहंकार आश्रित न योत्स्यति से मिथ्येश व्यवसायस्ते प्रकृति स्वाम योक्षते यदहंकार आश्रित न योत्स्यति मन्यसे मिथ्यैषा व्यवसायस्ते प्रकृति स्वाम योक्षते यद अहंकारम आश्रित अहंकार को लेकर के मैं स्वयं पंडित हूं दूसरे के बच्चनों को क्यों पालन करूंगा ऐसा अहंकार लेकर बैठोगे यद अहंकारम आश्रित न युद्ध इति मन से न मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा तुम मानते हो यदि मानोगे ऐसा क्यों तो छात्र धर्म है क्षेत्रीय प्रकृति है तुम्हारे पास तो मैं युद्ध नहीं करूंगा करके भगवान बार बार बोल रहे हैं अपने धर्म का पालन करो इत्यादि छात्र धर्म है करो कहा तो अर्जुन मानेगा कि न मैं युद्ध नहीं करूंगा अहंकार को लेकर के भगवान ने युद्ध करो बोलते मैं नहीं करूंगा मैं स्वतंत्र हूं यदि मानते हो मिथ्या सब ते व्यवसाय मिथ्या है ये सब ये तुम्हारे जो निश्चय है ना मैं युद्ध नहीं करूंगा करके ये मिथ्या ही झूठा ही है क्यों प्रकृति तो हम नियोग से देते छात्र प्रकृति तुम्हारी जो है तुम क्षेत्रीय हो तो क्षेत्रीय धर्म जो होगा प्रकृति जो तो स्वभाव अपना जो तो स्वभाव है योग क्षेत्र तुम तो उसे जोड़ेगा लगाएगा युद्ध में तुम रुक नहीं पाओगे जो सामने वाले क्या चमचा माता तलवार आएगा तो तुम रुक नहीं पाओगे हमारी प्रकृति है तो निरंकार आश्रित का जो अहंकार को लेकर के मैं स्वतंत्र हूं भगवान के वचनों को नहीं मानूंगा ये मानकर न से मन से मैं युद्ध नहीं करूंगा अथवा कोई माता मैं कर्म नहीं करूंगा वर्णाश्रम युद्ध कर्म नहीं करूंगा अर्जुन का कर्म हो रहा उस काल में युद्ध करना कर्म बन रहा वहां किंतु तो, तो नहीं करूंगा कोई भी बोलता हो तो मिथ्या से व्यवस्था ते व्यवसाय मिथ्या है तुम्हारी जो निश्चय है ना व्यवसाय में निश्चय मिथ्या झूठा ही है क्यों प्रकृति स्तम प्रकृति माने स्वभाव त्वाम नियुक्त तुम्हारा स्वभाव तुम्हें उसमें लगाएगा जोड़ेगा रुक नहीं पाओगे ये कहा हुआ है यच्च ये तो तम अहंकारम आश्रित नवेत्य न युद्धम कर श्यामी मन से चिंतसी निश्चय करोसी यही अर्थ है यच्च ये तत् ये बात भी समझो अर्जुन कहा अहंकारम आश्रित्य तुम अहंकारम आश्रित्य तुम अपने अहंकार को लेकर के नयोत्स्य मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा समझते हो न युद्धम करिष्यामी थी मन से कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा मानते हो मैंने चिंतन करते हो युद्ध नहीं करूंगा निश्चय करो निश्चय करते हो तो मिथ्या ये सब व्यवसाय कहा ये जो व्यवसाय है निश्चय तुम्हारा मिथ्या ही है क्यों ते मारे तब यस्मात प्रकृति छत्र स्वभाव ये ये प्रकृति है तुम क्षत्रिय हो क्षेत्र स्वभाव जो होगा तो हम नियोग क्षति तुम्हें जोड़ेगा वो उसमें जोड़ेगा नहीं करूंगा कहते वो करके पर आएगा वो तुम्हारा स्वभाव मान प्रत्येक वर्ण का अपना अपना स्वभाव है अपने अपने कर्म करने का स्वभाव है नहीं करूंगा करके हट नहीं चलेगा करके रहेगा ये कहना है ठीक है हमें कहते हैं देखो स्वातंत्र सती भीतर प्रकाश बना है अर्जुन कहे कि स्वतंत्र होने पर डर के कोई भगवान के वचन बाहन न माने पर पाप लगेगा इत्यादि कोई डर नहीं होता स्वतंत्र हो कहते स्वतंत्र नहीं हो तुम अपने प्रकृति का अधीन हो अपने स्वभाव के अधीन हो अहंकार को लेकर के दुख नहीं करूंगा कहते हो वह करके छोड़ोगे अपने स्वभाव के अधीन हो ये कहना है समय हो गया है नहीं रखते हैं फिर कर ओम पूर्णम पूर्ण पूर्णमदे पूर्णश पूर्णमेवशिष्य ओम शांति